इसमें बौद्ध मतों का निराकरण किया गया वो मानते क्षमिक प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश चित्त का भी नाश होता है उत्पत्ति नाश प्रतिक्षण यदि प्रतिक्षण चित्त अलग अलग है तो प्रत्येक चित्त का विषय अलग अलग है किंतु सब तो निश्चित विषय हो गया एक तत्व तो जाकर सब तो विक्षेप है ही नहीं चित्त एक हो प्रतिक्षण में विषय भिन्न भिन्न चिंतन करे तो विक्षेप है अभ्यास करके उसको एकाग्र करना है यदि चित्त प्रतीक्षण अलग अलग है तो कोई चित्त का विक्षेप है ही नहीं अलग अलग विषय चिंतन करे तो विक्षेप होगा यह तो प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्र जितने ज्ञान अर्थ के लिए निश्चित है यह मुख्य विषय उसका है और चित्त भी क्षणिक है सब चित्त एकाग्र विक्षेप है ही नहीं फिर साधन उपदेश और प्रयत्न व्यर्थ है जब एक ही अर्थ में मन को लगाएंगे चित्त स्थिर हो तब अलग अलग विषय हो और तो न प्रत्यर्थ नियतन एक अर्थ में मन को लगाना अलग अलग चिंतन करता है तभी चित्त स्थिर होने से तो होगा इसके ऊपर बौद्धों की शंका है चित्त प्रत्येक चित्त क्षणिक होने पर भी जो चैत्र का चित्त उसके प्रत्येक धारा चलती है मैत्र चित्त प्रत्येक धारा अलग है सबके चित्त प्रत्येक धारा अलग है तो प्रत्यय जो धारा है चित्त में जो चिंतन है सदृश चित्त हो प्रथम चित्त के द्वारा घटका का चिंतन हुआ दूसरे क्षण चित्त में वही घटका तृतीय क्षण उसी चतुर्थ दिन उसका पंचम दिन एक विषय का चित्त चित्त तो अलग अलग है समान विषय कौन से सदृश हुआ सदृश प्रत्यय का प्रवाह सदृश प्रत्यय का प्रवाह उनके चित्त एकाग्र होता है एक मानते बहुत कहेंगे क्योंकि चित्त तो स्थिर नहीं है प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है तो उसमें एकाग्र कैसे कहेंगे तो चित्त प्रथम क्षण जिस विषय का चिंतन करता है द्वितीय क्षण चित्त पूर्व चित्त से उत्पन्न होता है प्रत्येक चित्त उत्तर उत्तरवर्ती चित्त का कारण उसके तृतीय क्षण चित्र का चित्त का कारण द्वितीय क्षण में चित्त का भी प्रवाह घट का भी प्रवाह सर्व वस्तु का प्रवाह चलता है उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व से उत्पन्न होता है पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर का कारण तो भी अलग अलग चित्त होने पर भी यदि प्रत्येक चित्त समान सजातीय सदृश हो प्रथम चित्त यदि किसी विषय के है महादेव विषय का चिंतन करता है द्वितीय विषय भी वही महादेव से तृतीय भी महादेव से चतुर्थ चित्त सब तो अलग अलग है विषय भी अलग अलग है उनके मत में तो महादेव क्या तो जो कुछ चिंतन करेंगे प्रत्येक कोई स्थिर वस्तु ही नहीं कोई ना भगवान है ना आकाश है ना ब्रह्म है कोई स्थिर नहीं है तो पर्वत देख रहे हो प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है चेतन कोई अलग नहीं है प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है तो भी चित्त के प्रवाह में सजातीय प्रवाह सदृश प्रवाह सदृश प्रवाह प्रत्यय का सदृश प्रत्यय इसलिए प्रथम चित्त यदि घट विषय तो द्वितीय चित्त भी घट विषय तृतीय चित्त भी घट विषय का यद्यपि घट भी एक नहीं है घट भी प्रतिष्ठण उत्पत्ति नाश वाला है तो भी घट विषय घट विषय का प्रत्यय होने से शब्द से प्रवाह हो गया शब्द से प्रवाह से चित्त एकाग्र होता है तो इसके ऊपर सिद्धांत पूछता है एकाग्रता फिर किसमें रहेगी प्रवाह चित्त में एकाग्रता है अथवा प्रवाह कांत किसने यदि प्रवाह चित्त का धर्म एकाग्रता कहेंगे प्रवाह चित्त नाम की कोई वस्तु है नहीं प्रवाह में रहने वाले चित्त को एक नहीं प्रवाह तो कोई अलग है ही नहीं चित्त के बिना और प्रवाह में होने वाले चित्त कोई लगातार चित्त रहता नहीं नास्ती प्रवाह चित्तम क्षणिक यह हुआ था अतः प्रवाह से प्रत्यक्ष धर्म प्रवाह का अंश प्रतिक्षण होने वाले जो चित्त प्रत्यय उसमें एकाग्रता कहेंगे एक एक क्षण में होने वाले ज्ञान उसका धर्म कहेंगे एकाग्रता तो कहेंगे प्रत्येक प्रत्यय तो अलग अलग है शब्द से प्रत्यय प्रवाह हो विशब्द से प्रत्यय प्रवाह में रहने वाला हो प्रत्येक प्रत्यय का विषय अलग अलग निश्चित है तो सब एकाग्र ही है विक्षिप्त चित्त है ही नहीं क्योंकि प्रत्येक धारा में रहने वाले प्रत्येक चित्त प्रथम चित्त घट विषय द्वितीय चित्त पट विषय तृतीय चित्त पुस्तक विषय सदृश प्रवाह हो विसदृश प्रवाह हो चित्त तो प्रत्यय प्रतिक्षण में अलग अलग है निश्चित विषय के किसमें विक्षेप कहेंगे प्रवाह नाम कोई वस्तु नहीं और प्रवाह कांश जो प्रत्येक चित्त प्रत्यय है वो प्रत्येक सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाह वाला हो विसदृश प्रत्यय प्रवाह में रहने वाला हो प्रत्यर्थ नियतत्व अर्थ के प्रति निश्चित है इसका जो प्रत्येक चित्त का प्रत्येक का विषय अलग है एक स्थिर है एकाग्र है एकाग्र ही है प्रत्यय इति इसलिए विक्षिप्त चित्तता हो नहीं सकती है इसलिए उनके सिद्धांत ठीक नहीं तस्मात एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तमिति एकम चित्तम अवस्थितम अनेकार्थम अनेक अर्था यसे चित्त अनेक अर्थ विषय का चित्त स्थिर है कभी किसका चिंतन करता है कभी किसका चिंतन करता है चित्त स्थिर हो तो विचित्त है फिर प्रयत्न करके एकाग्र करना है टीका में यद अस्ति तस्य सर्वस्व क्षणिक ये पहले तस्य दर्शन एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त से मानेंगे चित्त संतान सेवा धर्म चित्त के प्रवाह का धर्म मानेंगे सचित्त का तत्र एकम क्रमवत उत्पादेश प्रत्येक क्रमगत प्रवाह चित्तम क्रम वाले उत्पन्न होने वाले जो प्रत्यय है ज्ञान अलग अलग वृत्ति उसमें अनुगत चित्त नाम को कोई वस्तु है ही नहीं कुतः क्योंकि सब क्षणिक है यदि आवदस्ती तथ्य सर्वत क्षणिक जितने जो कुछ है सब क्षणिक है तो सब प्रवाह के में अनुगत होने वाला कोई वस्तु है ही नहीं चित्त अक्षणिक से तत्व स्थिर वस्तु कोई नहीं जो क्षणिक नहीं हो भगवान दर्शन ये सिद्धांत कहता है तुम्हारे दर्शन स्थिर वस्तु है ही नहीं सब क्षणिक है ये अभिप्राय द्वितीय कल्पम गृहणाती अभी द्वितीय विकल्प लेते अथ प्रवाहांश्य प्रत्यक्ष धर्म प्रवाह का जो अंश प्रत्यय उसमें एकाग्रता कहेंगे सामृत से प्रवाह से अंश प्रत्यय परमार्थ सन तस्य प्रत्यय से एकाग्रता प्रयत्न साध्य धर्म ये उनका अभिप्राय सामृत है आविद्यक जहाँ हम आविद्यक प्रयोग करते हैं वो कहते हैं सामृत प्रवाह कोई वस्तु तो नहीं है सब क्षणिक है क्षणिक चित्तों का प्रवाह नाम को कोई वस्तु है ही नहीं चित्त को अलग है तो प्रवाह नाम कुछ ही नहीं तो भी आविद्य का प्रवाह से प्रयोग किया जाता है ये सामृत हुआ सामृत हमसे वस्तु स्वरूप तो नहीं है वस्तु स्वरूप को ढकने वाले अविद्या को समृद्ध शब्द से कहते जहाँ हम आविद्या को कहते वो बहुत लोग सामृत कहते प्रवाह वास्तव नहीं है सामृत है आविद्यक है कल्पित है चित्त प्रतिक्षण अलग अलग होने पर भी प्रत्यभिज्ञा होती स्वयं तदेव चित्तम लगता है एक ही है इसलिए प्रवाह ऐसे कल्पित है उसका अंश है प्रत्यय एक एक एक एक अंश प्रत्यय वो तो परमार्थ है स्थिर रहने वाले कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं सत्य प्रत्यय से एकाग्रता प्रयत्न साध्य करना प्रत्यय का प्रवाह का जो अंश प्रत्यय ज्ञान हुआ वो प्रत्यय में एकाग्रता नाम का धर्म है जिसको प्रयत्न से सिद्ध करना ये यदि मानेंगे तो भी ठीक नहीं दूसरे थी सर्वत सब एकाग्र ही शब्द से प्रत्यय में प्रवाह में आने वाले चित्त हो प्रत्यय हो विशेष से प्रवाह में आने वाले प्रत्यय हो उसका निश्चित विषय है ही एकाग्र ही है विक्षिप्त चित्तता हो नहीं सकती है संवृत प्रवाह अपेक्षया सदृश प्रवाही वा विसदृश प्रवाही वा प्रवाह यदि कोई एक है नहीं तो प्रवाही कैसे शब्द प्रयोग करेंगे सदृश प्रवाही विसदृश प्रवाही सदृश प्रवाह वाला विसदृश प्रवाह वाला लगातार एक विषय के चिंतन करे तो सदृश प्रवाह होता है तो प्रवाह नाम को कोई वस्तु नहीं चित्त क्या लेगा चित्त को चंड करें तो भी कहते वास्तव तो नहीं है कल्पित है सांवृत प्रवाह की अपेक्षा करके सांवृत आविदक कल्पित प्रवाह की अपेक्षा करके सदृश प्रवाह वाला हो विसदृश प्रवाह वाला हो चित्त तो प्रत्येक प्रत्यय अलग अलग विषय के निश्चित विषय के वो तो सब तो, एकाग्र ही है अतः परमार्थ प्रत्यय से नियत होता परमार्थ सदरूप प्रत्यय तो उसका अर्थ निश्चित ही है यद अर्थ भाष उत्पन्न तत्व समाप्त जिस अर्थ को विषय करने वाले चित्त उत्पन्न हुआ वही समाप्त हो गया अन्य विषय है ही नहीं प्रतिक्षण नष्ट हो जाता है अर्थाभास अर्थ अलग है ही नहीं ज्ञान के अपेक्षा इसे का अर्थाभास घटाभास घट जैसे दिखता बार अर्थाभास उत्पन्न प्रत्यय हुआ ज्ञान वही समाप्त हो गया और व्यग्र नहीं अलग विषय चिंतन करने का समय नहीं चित्त नष्ट हो गया एकाग्र ही एक प्रत्यय चित्त ऐसे विक्षिप्त चित्तता अनुभवती विक्षिप्त चित्त बौद्ध मत का नहीं होगा तो विक्षिप्त नहीं तो फिर प्रयत्न करने के लिए उपदेश करना प्रयत्न व्यर्थ है यद अपनयन अपनयन एकाग्रता अभियति विक्षिप्त चित्तता हो इसकी निवृत्ति करके प्रयत्न करके एकाग्रता की उत्पत्ति होती है ऐसा ही नहीं उपसाह करते तस्मात एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तम एकम चित्तम अवस्थितम स्थिर है अनेकार्थम अनेक अर्थवान अनेक अर्थाय से चित्त से इतोपि चित्तम एकम अनेकार्थम अवस्थितम च क्या एकम अनेकार्थम अवस्थितम च चित्त एक है अनेकार्थम अनेक अर्थ विषय अस्थिर है मानना पड़ेगा यदि च चित्तेन एकेन अनन्यता सदा भिन्न प्रत्यय जायरन अथ कथम अन्य प्रत्यय दृश्य अन्य स्मरता भवे अन्य प्रत्युपचित से कर्ता से अन्य उपभोक्ता भवे ये आपत्ति है यदि चित्तेन एकेन अनन्यता स्वभाव भिन्न प्रत्यय जायरन एक चित्त होता उसमें अलग अलग प्रत्यय प्रत्यय ज्ञान वृत्ति है चित्त होता है उसका आश्रय जिसे हम कहते अंतकरण उसमें प्रत्यय ज्ञान वृत्ति अलग अलग होती है इसी प्रकार चित्त एक हो उसमें चित्ते न अन्वित होकर के संबंध होकर के स्वभाव से भिन्न भिन्न प्रत्यय होते तब तो एक ही चित्त है आश्रय उसमें अलग अलग वृत्ति हुई तो एक चित्त एक प्रत्यय की तरह घट ज्ञान हुआ आगे थोड़ी देर बाद घट का स्मरण होने के लिए उसी चित्त में मृत्यु हो जाएगी चित्त में ज्ञान हुआ संस्कार चित्त में रहेगा स्मरण भी चित्त में हुआ पहले ज्ञान हुआ फिर अन्य को कुछ ज्ञान हुआ कुछ देर बाद पहले जिसको देखा था उसका स्मरण होगा चित्त अंतकण एक हो यदि एक ही चित्त में अलग अलग प्रत्यय हो एक ही चित्त समय अनुगत संबंध होकर के रहे तब तो एक चित्त सब प्रत्यय का आश्रय हुआ सब का आश्रय अलग अलग प्रत्यय ज्ञान सब का आश्रय एक चित्त एक चित्त में अलग अलग यदि प्रत्यय ज्ञान हो तो इस चित्त में कभी देखा गंगा जी का दर्शन किया फिर थोड़ी देर बाद एक साल के बाद भी कोई चला गया बाहर जा करके अन्यत्र गंगा जी का स्मरण करेगा चित्त एक ही ये तो संभव है और यदि एक ही चित्त समय है नहीं प्रत्येक अलग अलग एक एक अलग अलग उसका सबका आश्रय एक ही नहीं सबका आश्रय एक हो एक आश्रय में अनेक रहे तो इसका संस्कार या स्मरण होगा एक आश्रय ही नहीं सब अलग अलग कैसे एक न चित्ते न अनन्यता अनन्यता का संबद्ध संबद्ध नहीं है एक चित्त है ही नहीं खाई सब अलग अलग स्वभाव भिन्न है प्रत्यय स्वभाव सब भिन्न है प्रत्यय प्रत्येक अलग अलग है प्रतिक्षण अलग अलग चित्त है अलग अलग है प्रत्यय जाए उत्पन्न हो तो एक पहले प्रत्यय के द्वारा दिखा गया आगे फिर मन कैसे करेगा दूसरा है अन्य प्रत्यय दृष्ट अर्थ अन्य प्रत्यय के द्वारा जो दिखा गया अन्य उसका स्मरण कैसे करेगा वो एक में यदि प्रत्यय अलग अलग हो तो एक में देखा था उसी चित्त में अलग प्रत्यय के द्वारा स्मरण हो जाएगा और चित्त सब प्रतिक्षण अलग अलग है एक आश्रय ही नहीं तो देखने वाला चित्त अलग है स्मरण के लिए अन्य चित्त अलग ही चैत्र देखेगा मैत्र स्मरण करेगा ऐसा होता है मैत्र देखने पर चैत्र स्मरण करता है दोनों मैत्र देखने पर चैत्र स्मरण करेगा या चैत्र देखने पर मैत्र स्मरण करेगा नहीं बनेगा चैत्र देखेगा तो स्मरण चैत्र ही करना पड़ेगा अन्य नहीं कर सकता है जिस प्रत्यय के द्वारा दिखाया गया स्मरण उसी प्रत्यय से होगा अन्य प्रत्यय कैसे करेगा कथम अन्य प्रत्यय दिष्ट से अन्य प्रत्यय न दिष्ट से अनुभूत से विषय से अन्य प्रत्यय के द्वारा दिखा गया जो विषय उसका समर्थन में कैसे होगा और कर्म करता है कोई जो कर्म प्रत्यय के द्वारा कर्म हो गया पुण्य पाप कर्म और फल भुगते समय उचित रहेगा जितने क्षण नष्ट हो गया वो नहीं रहा और फल भोगने वाला दूसरा होगा कर्म करना एक कर्म करेगा और फल होगा दूसरा भोजन बनाया और थोड़ी देर बाद खाते समय दूसरे आकर खा लिया फिर भोजन बनाओ खाते समय दूसरे खा लिया कर्म पुण्य पाप कर्म करेगा और फल होते समय रहा है नहीं पुण्य कर्म किया फल होते समय नहीं रहा फिर अन्य कोई है वो फल वो करेगा अन्य प्रत्यय उपस्थित से थे अन्य प्रत्यय न प्रत्यय के द्वारा अनुष्ठित आते कर्म का समूह है और अन्य प्रत्यय उसका भोक्ता हो जाएगा ये कैसे होगा कर्म करेगा कोई फल भोग करेगा कोई दूसरा ऐसा नहीं होता है किसने मकान बनाया दूसरे आगे रह गया ये दूसरे रहता है तो उसके कर्म उसका अदृष्ट है तभी रहता है अभी भी यदि इस मकान में हम रहते बनाने वाले कोई नहीं थे तो बन, बनाने वाला जो भी बनाए अदृष्ट जिसका है वो हम वो करेगा कर्म कारण है आपका कर्म है कर्म से जो बना वो भोग आपको मिलेगा और कर्म करे अन्य भोग करे अन्य ये नहीं हो सकता है इसलिए उनके मत जो कहते हैं बौद्ध मत प्रशिक्षण अलग अलग ये ठीक नहीं है टीका नहीं यथा मैत्रण अभित से है हाँ मैत्र ने पढ़ लिया कलाकार में रह करके और चैत्र पंजाब में बैठ करके विद्वान <laughs> बन जाएगा होता तो है न अधिक से शास्त्र से न चैत्र स्मरता चैत्र स्मरण करता है या नहीं है चैत्र स्मरता न स्मरता न दिया है यथा ही मैत्री न अधिक से शास्त्र से चैत्र स्मरता लिखा है ना नहीं मैत्र के अध्ययन में क्या गया शास्त्र का स्मरण करने वाला चैत्र है लिखा है न न तस्मता न भवती यथा मैत्रेण उपचित से पुण्य से पाप से कर्माशय से फलम तद असंबंधी चैत्रो भोक्ता भवती न भवती तो मैत्र में कर्म क्या उपचित अनुष्ठान क्या संग्रह क्या पुण्य अथवा पाप कर्माशय का फल उचित पुण्य पाप के साथ असंबंधित जो मैत्र है वो भोक्ता होगा ऐसा होता है न भोक्ता न भवती एवं इस प्रकार प्रत्यांतर दृष्ट से प्रत्यांतर न स्मरे थे प्रत्यांतर दृष्ट हुआ पदार्थ उसका स्मरण अन्य प्रत्यय नहीं करेगा प्रत्यांतर उपचित सेवा कर्माचय से फलम न प्रत्यांतर उपभुंजित अन्य प्रत्यय के द्वारा किया गया कर्माशय उसका फल अन्य प्रत्यय भोग नहीं कर सकता है इसलिए प्रतीक्षण अलग अलग उत्पत्ति नाश वाला ये जो कल्पना ये बिल्कुल असंभव असंभव नहीं ये ठीक नहीं ननु अति प्रसज्यत पूर्व कहता है नहीं ये अति प्रसंग नहीं चैत्र दिखा चैत्र ने देखा मैत्र स्मरण क्यों नहीं करता है दर्शन स्मरण होने के लिए नियम है कार्य कारण भाव जहाँ है वहाँ दर्शन स्मरण हो जाएगा चैत्र के प्रत्यय का संतान प्रवाह चलता है पूर्व पूर्व प्रत्यय उत्तर उत्तर का कारण पूर्व पूर्व प्रत्यय उत्तर का कारण पूर्व उत्तर का कारण इस प्रकार चलता है ये प्रत्यय का प्रवाह में कार्य का अनुभाव है चैत्र के प्रत्यय के प्रवाह में कार्य का अनुभाव है मैत्र प्रत्यय का प्रवाह में अलग कार्य का अनुभाव है चैत्र का चित्त एक प्रथम क्षण चित्त मैत्र के द्वितीय क्षण चित्त का कारण है क्या मैत्र के द्वितीय क्षण होने वाले चित्त का चित्त चैत्र की तृतीय से अनुचित का कारण है किस क्षण चित्त का कारण होगा मित्र का चित्त चैत्र के किसी चित्त का कारण होगा मित्र चित्त जिस चित्त में कार्य का भाव है वहां दर्शन स्नान हो जाएगा चैत्र ने देखा चैत्र स्नान कर लेगा कार्य का भाव है कारण चित्त समय से आगे कार्य चित्त में ग्रहण हुआ इसके कार्य उसके कार्य उसके कार्य ग्रहण हो जाएगा पिता ने मकान बनाया उसके पुत्र उसके पुत्र उसके पुत्र उसमें रहते थे जन्म इसी प्रकार ये चित्त ने कर्म किया उसी प्रवाह में आने वाले कोई चित्त उसका ग्रहण भोग कर लिया इसी चित्त देखा किस चित्त सत्य स्मरण कर लेगा कार्यकारण भाव होने से अन्य चरित्र मित्र में कार्यकारण भाव नहीं ये नियामक हो जाएगा इसलिए अस्थि प्रसन्न जो आप देते हो चैत्र ने देखा मैत्र को स्मरण हो जाए चैत्र ने कर्म किया मैत्र उसका फल भोग ले ये अति प्रसंग नहीं होगा ननु नाति प्रसजते अति प्रसन्न दोष नहीं कार्य कारण भाव सती की विशेषणार्थ कार्य कारण भाव होते हुए तो दर्शन क्या है तो स्मरण होगा तब पुण्य का तो पाप कर्म करेगा तो फल हो करेगा किंतु कार्य कारण भाव होना चाहिए चैत्र मित्र में कार्य कारण भाव नहीं ये कहेंगे श्राद्ध वैशानरी इत्यादि अकर्तुम अकर्त माता पिता पुत्रादि गामी फल दर्शनाथ मधुर सभागिता नाम आमर बीजादिना परंपरा फल माधुर नियमात उत्तर देते बौद्ध कहते हैं एक पुत्र करता है श्राद्ध पिता के लिए श्राद्ध करता है फल को अनुभव करता है पिता माता को लेकर पिता माता फल हो करेगी और पिता माता करते वैसा नवे इसकी पुत्र जन्म होने पर करेंगे पिता फल हो गया करेगा पुत्र तो श्राद्ध वैशान इत्यादि कर्म में अकर्त तो माता पिता पुत्र आदि का हमें फल दसना है तो श्राद्ध का करता नहीं माता पिता पुत्र करता है श्राद्ध अकर्ता माता पिता को फल प्राप्त होता है वैशारण का करता है पिता और अकर्ता है पुत्र अकर्ता पुत्रगामी फल होता है इसी प्रकार एक प्रत्यय ने कर्म किया अन्य प्रत्यय के द्वारा उसका फलभोग हो जाएगा कार्य भावे और मधुर रस भाविता नाम व अमर बीज आदि नाम परंपरा फल माधुर्य नियमा फल में मधुरता माधुर्य रस आने के लिए आम्र का बीज को लेकर के मधुर रस में डुबा करके रखेंगे कुछ डाल करके आयुर्वेद जड़ी बूटी डाल करके मधुर रस के अंदर डुबा कर रखेंगे बहुत देर फिर उसको लेकर जमीन में लगाएंगे वो आगे पेड़ होकर के फल में मधुर रस आ जाएगा ये जो रुई है सफेद सफेद तो रुई सब देखा होगा रंग वाले रुई भी होते हैं वो बीज को डुबा कर रखेंगे लाक्षा रस आदि किसी रस में उसके बाद डालने पर रुई लाल हो जाएगा नीलवर्ण हो जाएगा कल अरण्य रूप हो जाएगा पुष्प आदमी से फल में रस लाने के लिए रूप लाने के लिए ऐसे किया जाता है प्रक्रिया की जाती है तो मधुर रस में रस के द्वारा भावित तो हुआ भावना युक्त हुआ एक भावना नाम की प्रक्रिया आयुर्वेद में है उसमें डुबा कर रखाएंगे फिर सुखाएंगे फिर डुबाएंगे फिर सुखाएंगे भिगा कर रखेंगे सुखाएंगे ऐसे करके आम्र बीजात में परंपरा से फल में माधुर्य आ जाता है पत्र में मधुरता नहीं फल मधुर हो जाएगा बीज में क्या काम भावना प्रक्रिया हुई फल मिला फल में माधुर्यता आ गया इसी प्रकार किस प्रत्यय के द्वारा इत्यादि अकर्तृ माता पिता पुत्र आदि अच्छा अकर्तृ मातृ पितृपुत्र आदि है हाँ। श्राद्ध वैशानदेश के आदु अकर्तृ तो आनंद ऋतु द्वंद्वे पुत्र है रिकार को आनंद हो जाता है माता के पिता से माता पिता रू बनेगा आनंद ऋतु द्वंद्व आनंद से माता बनेगा और माता पिता बना करके फिर पुत्र के साथ बंद करें तो फिर आनंद हो जाएगा अब ये देह साथ तो करेंगे मातृ माता से पिता से पुत्र से करेंगे तो वो उत्तर पद रहते आनंद होता है तो माता मातृ सकती है ये विकल्प है लघु कम सूत्र आता है उत्तर पद रहते आनंद होता है उत्तर पद रहते तो पूर्व पद में माता के पिता से अलग करेंगे तो मातृ माता पितृ प्रातिपद हो जाएगा माता पितरौ बनेगा तो माता पितरो से पुत्र से प्रतिद्वंद करेंगे तो माता पिता पुत्र ऐसे हो जाएगा और एक साथ करेंगे तो सब में आनंद नहीं होगा तो अलग रहेगा मातृ पितृ से अलग रहेगा माता पिता पुत्र आदि फलोगामी दर्शनादन अतः से समाधान समाधि मानवती किसी प्रकार यदि इसका समाधान करेंगे कैसे समाधान करेंगे कार्य का अनुभाव होने पर एक प्रत्येक द्वारा दिखा गया अन्य प्रत्येक द्वारा स्मरण हो जाएगा कथन से समाधान मानव की तद गोमय पायस्य न्याय माक्षिकती गोमय पाए तो एक न्याय है गोमय गोबर है वो तर्क पढ़ करके उसमें पाए सत्य सिद्ध कर देंगे जादूगर जादू से सिद्ध करता है ना उसे तर्क करने वाले सिद्ध कर देंगे गोमय पाए से न्याय अभी बताएंगे टीका में देखो अयम अभिसंधि क खलु एक संतानवर्ती नाम प्रत्यय नाम संतानांतरवर्ती से विशेष विशेषो ये एक संतान वर्ती न प्रत्यय न अनुप अनुभूत उपजित कर्माशय सेवा संतान वर्ती व प्रत्यय स्मरता भुगता से त्याग नान्य संतान वर्ती एक चैत्र का चित्त का संतान प्रवाह चलता है मैत्र देवदत्त चित्त का प्रवाह चलता है संतान अभी पूछते दोनों में ये जो प्रवाह के अंतर्गत प्रत्यय इसके प्रवाह चित्त इसके प्रवाह चित्त में क्या विशेष है क खलु एक संतान प्रत्यय नाम प्रत्यानाम एक संतान में रहने वाले जो प्रत्यय प्रत्येक होता होता प्रत्यय लगातार चलता प्रवाह प्रवाह के अंतर्गत एक एक प्रत्यय अलग अलग संतान के अंतर्गत प्रत्ययों का नाम संतान अंतर्वर्ती जो अंतर का तो अन्य प्रवाह अन्य प्रभाव के अंतर्गत जो प्रत्यय से इसमें क्या विशेष है इसी संतान आने वाले प्रत्यय इस संतान आने वाले प्रत्यय प्रत्येक उत्पत्ति नाश वाले प्रतिशण ये प्रत्यय की अपेक्षा इन प्रत्यय में क्या विशेष है इसने देखा इसने स्मरण किया अन्य ने देखा अन्य स्मरण किया अन्य पुण्य पाप करण किया अन्य फल भोगता है ये तो भोग करेगा इसी संतान में आने वाला अन्य ने कर्म किया ये क्यों भोग करना ही नहीं करेगा ये देखा ये क्यों स्मरण नहीं करेगा क्या विशेष है ये बहुत लोग उत्तर देंगे इसमें कार्य का अनुभव है इसमें इसके साथ इसका कार्य का अनुभव नहीं कहेंगे तो कहते क्या विशेष है अन्य संतान प्रत्यय से यह न एक संतान वर्ती ना एक संतान में रहने वाले प्रत्येक दर अनुभूत अथवा उपचित कर्माशय का उसी संतान में रहने वाले प्रत्यय स्मरण होगा होता होगा अन्य संतानों से क्यों नहीं होगा नहीं संतान नाम अस्थि कस्थित वस्तु सर ये चैत्र संतान और मैत्र संतान है एक या भिन्न भिन्न है संतान नाम कोई वस्तु है प्रवाह कोई प्रवाह ही नहीं तो भिन्न क्या कहेंगे संतान नाम को कोई वस्तु हो कोई तो चैत्र प्रत्यय का संतान अलग मैत्र प्रत्यय का संतान अलग संतान नाम कोई वस्तु है क्या फिर अलग वाले प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होने वाला ना नहीं संतानो नाम अस्थित कच्चित वस्तु सत कोई वास्तव संतान को कोई पदार्थ तुम्हारे मत में नहीं है यह इनम संतान इनम यदि संतान को वस्तु हो तो कहे ये संतान अलग चैत्र संतान अलग दूसरे संतान वाले से संतानियों से भेद कर गया क्योंकि ये प्रवाह अलग है प्रवाह नाम कोई वस्तु है नहीं जब कोई वस्तु हो, हो तो अन्य संतान वाले प्रत्यक्ष भेद करें संतान अंतर्वर्ती तो फिर जाए न तो काल्पनिक भेद क्रियायाम उपपद कहेंगे काल्पनिक भेद वास्तव तो भेद नहीं ये प्रवाह अलग ये प्रवाह प्रवाह नाम कभी सामृत है कल्पित है दो कल्पित वस्तु का भेद भी कल्पित है रज सर्प और रज दोनों एक है अलग अलग है रज सर्प और रज रजु सर्प सूत्र रजत तो में वास्तव कौन है कोई वास्तव नहीं और दोनों का भेद तो वास्तव है दोनों यदि कल्पित है दोनों का भेद भी कल्पित है चैत्र प्रवाह भी कल्पित मैत्र प्रवाह भी कल्पित तो दोनों का भेद भी कल्पित है काल्पनिक जो काल्पनिक भेद क्रियायाम नोपद्य थे कुछ क्रिया नहीं करेगा वो भेद काल्पनिक कोई क्रिया के लिए नहीं होता है अग्निर्माणवत लड़का को कहा अग्नि वास्तव अग्नि है क्या तो अग्निर्माणवत प्रयोग होने के बाद अभी मानव को से भोजन पाक हो जाएगा अग्नि का कार्य कर लेगा कल्पित अग्नि अग्नि का कार्य कर लेगा या नहीं काल्पनिक अग्नि न खोल काल्पनिक अग्नि भाव मानव का कल्पित अग्निभाव यस्य यस्मिन मानव के जिस लड़का में अग्नि तो कल्पित गया मानव को अय मानव को अग्नि अग्नि मानव को अग्नि भाव उसमें कल्पित हो गया तो मानव को पचती न पचती न पचती न कभी पचती न पाक नहीं करता है न तो अभी पूर्व किसी कहेगा कार्य कारण संबंध हमने कहा यही भेद करेगा कार्य कारण संबंध भी कोई वास्तव है क्या न तो कार्य कारण संबंध हो भी वास्तव कार्य कारण संबंध ही वास्तव नहीं मिट्टी पहले प्रथम क्या नहीं है घट बनने का मिट्टी रहती है मना कर रहती जो मिट्टी पहले घट बनने का तो मिट्टी रहने से इसी घट का ही मिट्टी उत्पादन का आना और यदि वो प्रथम क्षण मिट्टी नष्ट ही हो गया दूसरे क्षण में घट बनेगा वो घट का बदलने कारण मिट्टी बनेगी बीज को जला दिया और आगे अंकुर उत्पन्न हुआ अंकुर का कारण जो बीज जल गया था वो ये कारण होगा जो बीज को अग्नि में जाल, जाल करके जला दिया उसी से अंकुर कितने समय के बाद उत्पन्न होगा आगे जो अंकुर उत्पन्न होगा उसका कारण कब ये होगा वो बीज रहे अंकुर होने के बाद बीज कब उसमें रहता है अब बीज नष्ट हो जाएगा तो अंकुर का कारण कैसे होगा कार्य कारण भाग होने के लिए कारण कार्य में अनुगत हो तो कार्य कारण तंतु से पट बना जो तंतु से पट बना वो पट में हुई तंतु है तब कार्य करना है और तंतु सम जल नष्ट हो गया आगे पट का कारण कैसे बनेगा इसलिए कार्य कारण भाव वास्तव नहीं सहभुव दोनों एक साथ यदि उत्पन्न होंगे दोनों एक साथ उत्पन्न होने वाले कार्य कारण भाव बच्चों के सिंह दो निकलते बाम दक्षिण दो एक साथ निकलेंगे बछड़े आदि गो है ना छोटे बछड़े में सिंग नहीं थोड़ा बड़ा होने पर सिंग निकलेंगे मतलब वाम वाम पास में जो सिंह है दक्षिण सिंह का कारण या दक्षिण सिंह वाहन सिंह का कारण होगा कौन कार्य कौन कारण होगा है वाम कारण है ये कार्य है कौन कार्य है एक वाम एक दक्षिण दो तरफ सिंह निकलते हैं कौन कारण है कोई है कार्यक्रम है वो नहीं है वाम दक्षिण दो श्रृंग उत्पन्न होते हैं एक साथ एक साथ होने वाले में का भाव नहीं होता है एक साथ कहीं नहीं का भाव होता है सहभुगो हो सव्यतर दिशाणु गरीब अभाव सहभुगो सहभवत जो सहभुगो एक साथ होने वाले दोनों में का भाव होता है सव्येतर विषाण योरिव सव्य है वाम उत्तर है दक्षिण दोनों के विषाण सिंह के समान कार्यक्रम नहीं होता है अच्छा असहगोरती दोनों साथ साथ नहीं कभी पूर्व क्षण कभी उत्तर क्षण तब उसमें कार्य का भाव हो जाएगा पूर्व क्षण अलग उत्तर क्षण अलग दो में कार्य का भाव हो जाएगा पूर्व बीज पूर्व बीज उत्तर अंकुर का कारण है है नहीं पूर्व बीज उत्तर अंकुर का कारण था ना नहीं अरे बीज रहेगा अंकुर बनता है तो असह भूगो कार्यकाल हो जाए जो एक साथ उत्पन्न नहीं होते असह भूगो रि प्रत्युत्पन्न आश्रय प्रयोगाद वर्तमान में आश्रित नहीं होते हैं कार्यकाल भाग होने के लिए कार्य क्षण में नहीं रहते हुए उपादान कारण बनता है कोई जो उपादान कारण है वो कार्य क्षण में नहीं रहे पूर्व क्षण में रहेगा कार्य क्षण नहीं रहेगा उपादान कारण होता है तंतुपट में दोनों पूर्व उत्तर क्षण में दोनों एक अतीत क्षण एक भविष्य क्षण अतीत क्षण में एक पदार्थ भविष्य क्षण एक प्रत्यय दो प्रत्यय अलग अलग उसमें वर्तमान कौन रहेगा अतीत रहेगा भविष्य रहेगा अतीत और भविष्य तो दोनों वर्तमान में मिलते हैं दोनों का मिलना तो कब होगा होगा देखो असगोरपी असगोरपी प्रत्युत्पन्न आश्रय रहेगा तो प्रत्युत्पन्न वर्तमान वर्तमान के प्रति उत्पादन वर्तमान प्रत्यय के प्रति उत्पादन वर्तमान प्रत्यय का उत्पादन कारण अतीत होगा या भविष्य होगा जो अतीत उसी समय नष्ट हो गया वर्तमान कैसे उसका वर्तमान का कारण कैसे होगा वर्तमान का कारण है वो वस्तु ये वर्तमान पट का कारण इसका अवयव पहले था यदि वो पहले जो था अभी हो तो तो कार्य कारण कहेंगे पहले नष्ट हो गया अभी बना कोई इसका कारण पूर्व होगा होगा ना नहीं पहले बीज को जला दिया और थोड़ी देर बाद एक अंकुर निकला वो कहेगी इस अंकुर ऐसी बीज से बना कभी घूमे में कोई बीज जला दिया जलने के बाद कुछ दिन के बाद वर्षा होने के बाद उसमें कुछ घास अंकुर निकला तो कहीं जिन बीज को हम जलाए थे उसी से अंकुर निकला पता है वो नहीं अन्य कोई उससे नहीं होता है इसलिए दोनों असर्भुग होने पर भी वर्तमान क्षण में अतीत नहीं होते नहीं अतीत अनागत तो व्यासज्य प्रत्युत्पन्न वर्तित अर्हत अतीत अनागत दोनों एक साथ है व्याप्य एक साथ दोनों एक साथ रह जाएंगे अतीत और अनागत भविष्य दोनों वर्तमान समय में एक साथ रह जाएंगे सब क्षणिक है अतीत अभी तक है नहीं अतीत अतीत नष्ट हो गया आगे उत्पन्न होगा अभी है ही नहीं दोनों एक साथ मिलेंगे तो वर्तमान क्षण मिल जाएंगे व्यासज्ञ का एक साथ मिल करके नहीं रह सकते हैं प्रत्युत्पन्न वर्तमान प्रत्युत्पन्न वर्तमान समय में वर्तित्व न रहता है तस्मात संतान न वा कार्य का अनुभाव न स्वाभाविक अनुपहता अनुपहिता परमार्थ संत प्रत्यय परस्परा स्वसंतान स्वसंतानवर्तिभ्य पर संतानवर्तिभ्यो व प्रत्यांतरभ्यो न भिद्यंते कोई वेद नहीं है अपने संतान वाले वाले प्रत्यय हो अन्य संतान वाले वाले प्रत्यय कोई भेद नहीं है कैसे तस्मात संतान वा कार्यक्रम भावे न प्रवाह हो कार्यक्रम भाव हो स्वाभाविक है न अनुपहिता उपहित उपाधि से युक्त नहीं होकर स्वाभाविक कोई कार्यक्रम भाव हो संतान नाम कोई कार्य वास्तव हो परमार्थ संत अनुपहित अनुपहिता परमार्थ संत प्रत्यय प्रत्यय परमार्थ हो स्वाभाविक हो करके कार्यकान भाव हो करके उपाधि तो नहीं हो पारमार्थिक प्रत्यय हो अलग अलग यदि है परस्परा संस्पत्ति पूर्व प्रत्यय के साथ उत्तर प्रत्यय का कोई संबंध नहीं ये शिक्षण प्रत्यय के साथ उत्तर प्रत्यय का कोई संबंध नहीं इसे प्रत्यय में क्या क्या ये प्रत्यय नहीं जानता है इसे प्रत्यय इसमें नहीं है परस्पर संबंध नहीं है अलग अलग है परस्पर परस्पर परस्पर संस्कृत संस्पर्श नहीं है दोनों का विषय है कि नहीं इसके साथ उसका कोई संबंध नहीं अपने संतानवर्ती में प्रत्यय से हो पर संतानवर्ती हुआ प्रत्यंतर भय कोई भेद नहीं इसलिए ये जो कल्पना करते हैं इसमें पूर्व दृष्ट का स्मरण कोई करेगा पूर्व किया हुआ कर्म का फल वो करेगा अपने संतान वाले यदि कार्य का अनुभाव हो ये तो कोई इसे तर्क नहीं स्वयं गोमयम पायसम से अधिकृत प्रभुत्व न्याय गोमय पायस को विषय करके के न्याय है अनुमान प्रयोग करते तर्क पढ़ने से कैसे अनुमान कर देखो गोमय गोबर ला कर रखा कटोरी में आनंद करके क्या खा साधु बताया क्या है एकदम पायसम गव्य स्वा पायसवत जो दुग्ध से खीरी बनाते ना खीर कहते पायस कहते ये तो हिंदी में खीर कहते थे तो खीर है दुग्ध पय है दुग्ध उसका विकार होता तो है पायस चावल डालकर उबाल करके बनाते खीर कहते हैं वो पायस है वो दुग्ध गो का विकार है ना नहीं गो का विकार है गव्य है और गोबर भी गो का विकार है है अभी अभी कहेंगे गो परिसर यत होता है गव्य बनता है गो परिसर यत और गोप्त पूरी से मैट प्रति होता है गोबर के लिए मैट होता है तो गोबर में क्या सिद्ध करना है कायसत्व गव्य उभय सिद्ध कायसवत काय से जैसे गव्य है पाय से ये भी गव्य होने के कारण ये भी पाय से है अनुमान के द्वारा गोबर पाए तो जाए ना नहीं ये जिस प्रकार गोबर को पाए तो कहना है इसी प्रकार तुम कहो तो एक संतानवर्ती चित्त में स्मरण दर्शन कर्म करना फल भोगना हो जाएगा ये कोई न्याय नहीं है इति तम आक्षिपति न्यायाधास न्याय नहीं न्यायाधास है न्याय जैसे लगता है तर्क जैसे लगता है तर्क नहीं हेतु नहीं हेतु तत्व अधिक स्थिति उससे भी अधिक है गोमय कायत करने में तो कुछ थोड़ा सा तर्क पड़ा है ये तो आप जो कहते बिल्कुल कुछ नहीं तत्व भी अधिकत्व आदि की